बसमीम वरतफ़ा क्या और कलाम की शान का बुलंद होना हुस्न और कबूल ने उसके यानी कलाम के एतबार मुनासिब के मुताबिक होने की वजह से है क्या कर लो एतबार मुनासिब की मुताबकत की वजह से है और उसका गिर जाना कम दर्जे का हो जाना उसका गिर जाना किसका आई क्या है हम्म? आई इनफिताती शानी ही यानी उसकी शान का गिर जाना है ना इरतफा शान कलाम कलाम की शान का बुलंद होना और इनहतातु यानी इनफितातु शान ही अय शानिल कलामी कलाम की शान का गिर जाना स्वस्थ हो जाना कैसे होगा बेआदमी हा अय बेआदमी मुताबकती ही दिलबार मुनासिबी उसके ना होने की वजह से किसके कलाम के एतबार मुनासिब के मुताबिक न होने की वजह से क्या बयान करना चाहते हैं यहाँ से मुसनफ़ रहमा कलाम की शान की बुलंदी हसन और कबूल के अंदर तो कलाम की शान का कलाम के रफ़ी शान होने के पस्त होने को जिक्र करना का कि कलाम रफ़ी शान कब होगा और कलाम पस्त कब हो जाएगा किस चीज़ के अंदर हसन और कबूल के अंदर फिलहसनी वलकबूली ये कहा तो मुराद यहाँ पर कलाम की शान के बुलंद होना वो हसन और कबूल में ना कि दूसरी चीज़ों में दूसरी चीज़ें जैसे जैसे मिसाल के तौर पर कलाम की शान का बुलंद होना दिलों पर असर करने में आफरत की याद दिलाने में जहन्नम का खौफ पैदा करने में तो ये किस में होगा ये तरगीब तरहीब के अंदर होगा तो यहाँ पर तरगीब तरहीब के अंदर नहीं बल्कि हसन और कबूल में बयान है हसन और कबूल कब होगा कहते हैं कि अगर एतबार मुनासिब के मुताबिक कलाम है तो फिर ये कलाम रफ़ी शान होगा इस कलाम की शान बुलंद होगी और अगर ये कलाम एतबार मुनासिब के मुताबिक नहीं है तो ये कलाम फिर गिर जाएगा एतबार मुनासिब किसको कहते हैं एतबार मुनासिब कहते हैं वो उमूर जिनका मुतकलम मकाम के मुनासिब एतबार करता है कि ये मकाम है और इस मकाम के मुनासिब इस तरह कलाम लाना मकाम के मुनासिब इस अंदाज से और इन चीज़ों के साथ कलाम को लेकर आना है जब मतकलम उस एतबार से कलाम करता है तो ये कलाम अब एतबार के मुनासिब जो है कहा जाता है किस एतबार ये किस तरह होगा फरमाते हैं बेहसब सलीक़ी सलीक़े के लिहाज से यानी जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक सलाहियत दी है जो उसको खुदादा सलाहियत मिली हुई है फितरी सलाहियत तो उस सलाहियत से वो मकाम के मुनासिब कलाम ने उन चीज़ों का एतबार करेगा जिन चीज़ों की कलाम को ज़रूरत है जिन चीज़ों से कलाम के अंदर हसन और कलाम की कबूलियत हो जाती है जब वो इनका एतबार कर लेगा तो अब वो कलाम रफ़ी शान हो जाएगा यानी कलाम की शान बुलंद हो जाएगी या नीचे एक लफ्ज आ रहा है अव बेहसी ततबी तराकीब बुलगाई या बुलगा की तरकीबों के ततब के लिहाज से जो बुलगा हैं बलीग लोग हैं उन्होंने कलाम को जो तरकीबें दी हैं उस अंदाज से ये तरकीब दे देगा तो उस अंदाज से तरकीब देने की वजह से भी कलाम ये रफ़ी शान हो जाएगा और कलाम की शान बुलंद हो जाएगी उसी को ये फरमा रहे हैं वल मुरादु बिल एतबार मुनासिबी और मुराद एतबार मुनासिब से क्या है अलमरदी मुतकलम मुनासिबलमकामी बेहसब सलीक़ती अव बेहसब ततब वो अम्र जिस का मुतकलम एतबार करे या जिसका मुतकलम ने एतबार किया मुनासिबल मकाम के मुनासिब इस लिहाज से बेहसब सलीक़ती सलीक़े यानि खुदादाद सलाहियत के लिहाज से एतबार से या बुलवा की तराकीब के तदबुर के लिहाज से कहते हैं युकालू इतबर शरीआ ये लगत से पेश करते हैं दलील कहते हैं कि देखो इस तरह बोला जाता है एतबर शरीआ मैंने फला चीज़ का एतबार किया मैंने फला चीज़ का एतबार किया इसमें यहाँ पर ये कहना चाहते कि यहाँ एतबार से मुराद अमर मोतबर है यानी इसमें मफहूल तो बयान मैंने उसका मैंने शे का एतबार किया तो यहाँ पर मकबूल आया तो इन्होंने इसको जिक्र किया है कि देखो ये मकबूल के साथ जिक्र होता है तो जो ऊपर आया है अल एतबारमनासिब तो यहाँ पर जो एतबार है ये एतबार से मुराद है अमर मतबर यानी इसमें मफूल कहते हैं युकालू एतबर तो सही आ कहा जाता है मैंने शे का एतबार किया कब कहा जाता है इरा नजरता इलही वराईता हालहु जब उसकी तरफ नज़र करे देखे और उसके हाल की तो रियायत करे जब तू उसकी तरफ देखे और उसके हाल की रियायत करे तो उस वक्त ये कहा जाता है या तबर तो मैंने का किया लिहाज किया अब आगे फरमाते हैं कि कलाम कलाम से मुराद क्या है कहते हैं कलाम जो लफ्ज आया है इबारत के अंदर उससे मुराद है कलाम फसी और हसन से मुराद है हसन ज़ाती यानी वो हसन जो के अंदर बरागत के अंदर दाखिल होता है एक हसन होता है जो महसनात बदिया की वजह से हासिल होता है वो हसन बलागत के अंदर दाखिल नहीं होता बल्कि वो आरज़ होता है आरज होता है अब महसनात बदिया इनका बयान आगे आएगा इन शुरू शुलाम के अंदर ये दो तरह के होते हैं महसिनत लफ्जिया और महसिनत मानविया इनकी वजह से जो हुस्न पैदा होता है वो हुस्न ज़ात के अंदर दाखिल नहीं होता बल्कि वह हुस्न खारिज होता है फरमाते हैं वह अरादा बिल कलामी और मुराद लिया है इरादा क्या है कलाम से कलाम सहीहा कलाम अलकलाम कलाम फसीह का और दूसरा लफ्ज आया था वबिल हसन आया था ना वबिल हसनी अलहसन ज़ातिया दाखिला फिल बलागती और हुसन से इरादा क्या है यानी हसन से मुराद हसन ज़ाती है जो बलागत के अंदर दाखिल है دون العرضي الخارج لحصوله بالمحسنات البديعية ना के आर्जी यानी हसन आर्जी मुराद नहीं जो खारिज है जो खारिज है खारिज होता है क्यों लसूली बिलमहसनात बदीयती उसके महसनात बदीया से हासिल होने की वजह से